और कुछ ऐसे शरीर जिन्नात भी हमने उनके ताबे कर दिए थे जो उनकी खातिर पानी में गोते लगाते थे और इसके सिवा और भी काम करते थे और इन सब की देखभाल करने वाले हम थे